यही बेद राम सब सबहि समुझावा गुरुपद पदुम शिशिर नाम गणपति गौरी गिरीश मनाए चले अशीष राम भयवु रामचलयति सुनिन विसाधो सुन् जाये पूर आरतुनादो लङ्क अवधयति सोगो हर विषाद दिवस को इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया फिर गणेश जी पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता लंका में बुरे शकुन होने लगे अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए हर्ष इस बात का था कि सब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था गई मूर्छा तब भूपत जागे बोले सुमंत्र कहन यस लागे राम चले बन प्राणन जाहे के सुख लागे रहत मन मा यहि ते कवन व्यथा बलवानां जो दुख तजहि तनु प्राण पुनि धर धीर नर नाहू रथ संग सखा तुम जाहो मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे फिर धीरज धरकर राजा ने कहा हे सखा तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ सुठ सुकुमार कुमार दबो जनक सुता सुकुमार रथ चढ़ाए दिखाए बना फिर हो गए दिन चार अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखाकर चार दिन के बाद लौट आना जो नहीं फिर धीर दो भाई सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई तो तुम विनय करहु कर जोरी हेरिय प्रभु मिति ले सकोरी जब सिय कानन देख डराई सिख अवसर पाए सासु ससुर यस कहेबु संदेशो पुत्री फिर बन बहुत कलेसो यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता के नियम का पालन करने वाले हैं तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभो जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए जब सीता वन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री तुम लौट चलो वन में बहुत क्लेश है गृह कबहु कबहु ससुरारि उ जहाँ रुचि ही तुम्हारे यही विधि करे हो उपाय कदम पिरयि तो ये प्राणयवलम्बा नाहित त मोर मरणपरिण कछु न कहि भय परामहिरा राम लखन सिय आनि देखाऊ कभी पिता के घर कभी ससुराल जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता हाँ राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े पाई रजाय सुनाय सिर रथ यत बेग बनाय गयऊ जहाँ बाहिर नगर सीय सहित दो भाई सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे